स्थिति निश्चित रूपेण ऐसी हो जाए ऐसी स्थिति में आप पहुंच जाए जिसमें समाधि के माध्यम से ईश्वर साक्षात्कार में कोई कठिनाई नहीं होती या नहीं नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं इस विषय में दो विभाग कर लेने चाहिए एक विभाग शब्दार संबंध से जानना जनाना पढ़ना पढ़ाना लिखना लिखाना इस स्थिति में पहुंचना एक स्तर है क्या समझ में आया दोहरा लो शब्दार्थ संबंध से जानना जनाना पढ़ना पढ़ाना लिखना लिखाना ऐसा जान लेना एक स्थिति है जैसे उच्च कोटि के विद्वान हैं वो ऐसा करने में समर्थ हैं और करते भी हैं उसके पश्चात जो इस स्थिति को प्रलय की स्थिति को उस स्तर पर ले जाना पड़ता है वो स्थिति इससे भिन्न है उस स्थिति को समझने में जो मैंने उदाहरण दिया था उन बातों को ले ले करके और जैसी स्थिति बनती है प्रलय की वैसा ही मन वचन और शरीर का बन जाना अंतर देखिए आया नहीं समझ में आप बोलिए क्या समझ में आया जैसे पहले में स्थिति देखते हैं हाँ। आदि को मारते हैं वैसी स्थिति हो जाती है अब एक और उदाहरण देंगे हम यद्यपि हम ये सुनते हैं सुनाते हैं कहते हैं कि ये शरीर नाशवान है सबके शरीर नाशवान है और आगे बढ़ते हैं तो ये पृथ्वी आदि सभी नाशमान प्राय ऐसा सुनते सुनाते हैं परंतु जो मृत्यु का आदेश मिले किसी को कि आज अमुक व्यक्ति को फांसी तोड़ दिया जाएगा अथवा बिजली से जला दिया जाएगा और शत प्रतिशत निश्चित हो जाने पर जो स्थिति बनती है उसमें और उसमें दोनों में अंतर है कौन आएगा नहीं आया समझ आ गया हुँ? हम्म? आ गया तो सुनाओ ऊंचा बोल के जो मृत्यु के विषय में क्या स्थिति बोलो कि किसी व्यक्ति को ये बात सुना दी जाए हम्म। कि आज इस समय आपको फांसी तोड़ दी जाएगी या बिजली से जला दी जाएगी जला दिया जाएगा क्या दिया जाएगा हाँ तो इसमें जो मृत्यु का भय हम्म। और उसमें जो प्रलय काल में जो मृत्यु का भय है उसमें दोनों में खेद होता है हम्म। दोनों में खेद होता है नहीं कुछ दूसरा प्रकरण बदलेगा इसलिए तो पूछा जाता क्या समझेगा नहीं तो मैं कितनी बातें तो आप उल्टी समझ जाएंगे और कौन बोलेगा हाँ बोलो ऊंचा बोलना है वहां तक सुनाई दे जब किसी व्यक्ति को निश्चित रूप से बताया दिया जाता है कि आपको इस समय इस निश्चित समय पर आपको फांसी तोड़ दी जाएगी तो जैसे प्रलय में स्थिति होती वैसी उसको इस समय दिखने लगती है कि मैं अब मरने वाला हूँ ये अंश तो आपने अच्छा समझा और किसके साथ तुलना की थी ये जो सप्ताह संबंध हाँ हाँ हाँ हाँ वैसे उसको व्यवहार हाँ इसके साथ उसकी तुलना की गई अब कुछ पकड़माई बात नहीं आई फिर बोलो अच्छा विद्या के क्षेत्र में विद्वानों की स्थिति के दो स्तर बनाए जाते हैं शब्दार संबंध को अच्छे प्रकार से समझने वाले पढ़ाने वाले लेख लिखने वाले सुनने सुनने वाले अच्छे विद्वान होते हैं उसकी स्थिति में वो जो उसकी स्थिति है वह और जो इस स्थिति में शरीर नाशमान है और ये क्या होता है प्रलय होता है सूर्य आदि ये भी प्रलय में परिवर्तित हो जाते हैं इसके समझने वाले में और उस व्यक्ति में बहुत अंतर है जैसे लोक में सबकी मृत्यु होती है मरेंगे सब कहते हैं सुनते हैं कोई मना नहीं करता उस व्यक्ति ने उस स्तर पर और जिसको आदेश मिला कि आज इसको फांसी तोड़ दिया जाएगा अमुक समय में इसकी रात बना दी जाएगी बिजली से उसको तो जो उसकी जो स्थिति बनती है और लौकिक व्यक्ति जो कहते सुनते मानते उनकी स्थिति में जैसा अंतर है वैसा उस विद्वान के और विवेक से आगे बढ़ने वाले की स्थिति में अंतर है फिर से सुन लो नहीं आया सुनते सुनाते हैं सभी लोग कहते हैं मरेंगे मरना है आदि आदि एक स्थिति और आदेश मिलने पर जो स्थिति होती है आज इस व्यक्ति को एक समय में फांसी तोड़ दिया जाएगा विजय उसमें जो स्थिति होती है आज मैं मर जाऊंगा और नहीं रहना राग हो जाएगी वो प्रतिदिन वो व्यक्ति वैसे भी कहता था मरना है मरना तो एक दिन है ही ये तो चला जाएगा शरीर उस स्थिति में और आज आदेश जो मिला है उसमें बहुत अंतर है अब तो आया उसी प्रकार से ये विद्या पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने लिखने लिखाने वाले एक विद्वान और इस स्थिति को लेकर के खोज करते हुए अंतिम निर्णय मन वचन कर्म से एक मानने वाला एक रखने वाला जो प्रलय की स्थिति बनाता है उसके इसके ज्ञान में बहुत अंतर है ये अंतर समझना परिश्रम साध्य है और असंभव कुछ नहीं है क्या समझे आप आपने देखा होगा इन बातों को सुनते सुनाते तो हैं ही पढ़ते पढ़ाते तो हैं ही लिखते लिखाते तो हैं ही पर उस व्यक्ति की वह स्थिति विवेक वैराग्य वाली नहीं देखी जाती समझ माया यदि ऐसे ही होता पढ़ने मात्र से इतने करने मात्र से ये हो जाती तो ये इतने जो पचास सौ विद्वान मिलते वो सारे सारे सभी योगी मिलते अच्छा नारद की कथा तो याद है कम से कम नहीं है क्या है उसने कितनी विद्याएं गिनाई अठारह विद्याएं गिनाई ऋग्वेद यजुर्वेद आदि आदि उसका भाव और कहने लगे भगवान उसने जब ये कहा सनत कुमार ने कि इतनी विद्याएं पढ़ी आपने अंग उपांग और सब कुछ इतनी अठारह अब ए, मेरे पास क्या भाव सुना रहा हूं क्या सीखने आए क्या लेने आए आपने कहा वो उपदेश भगवान मैं मंत्रविद हूं हाँ जी आत्मविद और फिर क्या आत्मविद ने सोच दी आत्मा अर्थात परमात्मा को जानने वाला शोक को प्राप्त नहीं होता और मैं शोक को प्राप्त होता हूं ये कसौटी आ गई समझ मारा नहीं यार अब वो जो स्थिति है ये जो विवेक वैराग्य की स्थिति है इसमें ऐसे मंथन करता चल, चलता है व्यक्ति और जो जो सत्य ग्रहण होता है ना प्रमाण से उसको पकड़ लेता है असत्य को छोड़ता जाता है और परीक्षण करता है शत प्रतिशत ये बात जच गई है शत प्रतिशत निर्णय हो गया है फिर उसका व्यवहार आहार उठना बैठना वैसे ही चलता है जैसे आपने एक लौकिक दृष्टांत सुना था ना सामान्य रूप से सभी कहते हैं मरेंगे सभी मरेंगे आदि आदि और जिस दिन उसको आदेश मिलता है कि आज इसको फांसी छोड़ दिया जाएगा उस दिन का व्यवहार मंत्र देंगे जैसे आकाश पाताल देश आप कभी परीक्षण करेंगे जिसमें आदेश होगा ना वो लखपति करोड़पति हो पहले कहता था हम मरना तो ये धन संपत्ति जाएगी रोज कहता था सुनता सुनाता था और दान वान कुछ नहीं देता था कंजूस प्रवृत्ति का व्यक्ति उसके धन इकट्ठा कर उसकी प्रवृत्ति देखी स्वार्थ की प्रवृत्ति और इकट्ठा करने की प्रवृत्ति निष्काम विचार से ईश्वर का मान के नए खर्च करने की प्रवृत्तियां देखी आपने जितने आदेश मिला एकदम और करोड़पति क्या करने लगा बस आज मध्यान्ह के पश्चात नहीं रहना अच्छा भाई तन को दे दो आप भी ले लो आप भी ले लो वो बांटने में लग जाएगा और कहेगा हाँ इसको खा भी सबकी बात नहीं करा कोई ऐसा कंजूस भी होता है मरते समय भी नहीं देता वो अलग बात है प्राय आप देखेंगे वो व्यक्ति इतना त्यागी विचारधारा बदल जाएगी और बड़ा प्रेम करने लगेगा जो झगड़े करता था जिनके साथ में प्रेम होने लगेगा और मिलने लगेगा अब जाने वाला हूं दो घंटे में नहीं देखा आपने ऐसा अंतर आ गया समझ जिस दिन आपको यह स्थिति दिखाई देगी जैसे आदेश वाले की होती है क्या जमीन आदेश जिसको मिल गया ना फांसी टूटने का जैसे उसकी स्थिति होती है आपके पीछे आदेश नहीं है फांसी टूटेंगे आप तो भी जिसको आदेश मिला ऐसी स्थिति होगी तो समझ लेना हम ठीक कर रहे अन्यथा ठीक है नहीं विवेक विवेक की प्राप्त नहीं हो सकते आप बोलो समझ में आया नहीं आया ऐसी स्थिति हो और इन दोनों सिद्धांतों का मंतव्यों का एक सीधा संबंध रहता है ईश्वर को स्वामी मानना अपना स्वामित्व हटाना फिर सृष्टि की उत्पत्ति हुई है इसका विनाश भी होगा प्रलय जैसी स्थिति को बनाना और यदि ऐसा दोनों का आपस में संबंध रहता है जब व्यक्ति सृष्टि के विषय में जब ऐसा सोचता है तो ईश्वर के प्रति इतना विश्वास होता है ईश्वर को मानने में इतनी सरलता होती है ऐसी और दूसरे पक्ष में सृष्टि बनी कभी नहीं है या अनादिकाल से जो की जो बनी आ रही है अथवा स्वतः बन गई है ये अथवा ये अभाव से भाव हो गया है जब ये दिमाग रहेगा तो ईश्वर के प्रति वो श्रद्धा वो विश्वास नहीं होगा समझ में आया नहीं आया बोली हाँ नाम उत्तर दो ब्रह्मचारी दो हा आ गया अब हम विराम की ओर चलेंगे याद रखना जहां ज्ञान का क्षेत्र है वो इस प्रकार है फिर आएगा कर्म का क्षेत्र है यदि आपने योगी बनना हो तो तीसरी बात ले आइए ज्ञान कर्म उपासना एक कर्म के विषय में वाक्य बोलना है मन वाणी और शरीर से ध्यान देना सकाम कर्म अशुभ कर्म का परित्याग और निष्काम कर्म का अनुष्ठान सतत करना पड़ेगा अर्थात व्यक्ति लौकिक सुखों के लिए सकाम कर्म करता है और अशुभ कर्म भी करता ही रहता है दोनों होते रहते और उसमें निष्काम कर्म की परिभाषा जैसे ऋषियों ने ऋषियों ने कहा कि जो हम शुभ कर्म करते हैं अर्थात अच्छे कर्म करते हैं वो लौकिक फल की प्राप्ति के लिए नहीं करते सम्मान के लिए नहीं करते कीर्ति के लिए नहीं करते पुनर्जन्म के लिए नहीं करते केवल ईश्वर प्राप्ति करने कराने के लिए करते हैं और ध्यान दो जिस तनमन धन से उनका संपादन करते हैं कर्मों का वो ईश्वर के दिए हुए हैं और उनसे संपादित कर्म जो है वो ईश्वर प्राप्ति के लिए किया जा रहा है ऐसी स्थिति बनानी पड़ेगी यदि ऐसी नहीं बना सकते तो ईश्वर साक्षात्कार भी नहीं कर सकते अब विराम विद्युतगण तथा ब्रह्मचारीगण उपस्थित सज्जनों माताओं आप समण रखिए कि पूर्व की सुनी जानी बातें भक्ति करते रहिए यदि आप आवृत्ति नहीं करेंगे और अब जो सुनी जा रही बातों के साथ उनका संबंध नहीं जोड़ेंगे तो प्रगति विकास संभव नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेंगे आप को बतलाया गया था कि यदि व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति से अधिक किसी लक्ष्य प्रयोजन को यदि स्वीकार करता है तो विफलता हो जाएगी सफलता होने वाली नहीं है दोहराइए क्या समझे समझ में क्या आया यदि व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति अथवा मोक्ष प्राप्ति से अतिरिक्त किसी कार्य को ऊंचा अथवा कृतकृत्यता को अधिक मानता है अधिक समझता है उससे अतिरिक्त किसी और प्रयोजन को बड़ा समझता है अभी बात अथवा ईश्वर प्राप्ति के समान समझता है तो विफलता होगी सफलता नहीं होगी अब दोहरा लो क्या कहा यदि ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य से अन्य कार्य को बड़ा या उसके समान मानता है तो वह अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता ये निश्चित अब तुलनात्मक अध्ययन करिए आप ऐसे लोग स्त्री पुरुष संसार में कितने होंगे आपको पता हो तो बताओ भारत देश की जनसंख्या कितनी है एक अरब से ऊपर जा चुकी ना या नहीं ऊपर हो गई है जी तो क्या एक लाख में एक व्यक्ति मिलेगा ऐसा बताओ कौन उत्तर देगा या ये को हमको पता ही नहीं तो आपको पता नहीं होगा तो आपने निरीक्षण परीक्षण नहीं किया या कम किया होगा यदि इसको अच्छे प्रकार से देखा जाए परीक्षा पूर्वक देखा जाए तो इतना तो हम निश्चित एकदम कहें एक लाख में एक व्यक्ति नहीं है आगे बढ़ो तो कई लाखों में एक व्यक्ति नहीं है जो ईश्वर प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति को ही मुख्य प्रयोजन मानता हो और दूसरे किसी पदार्थ की प्राप्ति को मुख्य लक्ष्य नहीं मानता अब आप इसको यदि भूल जाते हैं कभी भूलते रहते हैं छोड़ देते हैं तो तत्काल आपका लक्ष्य और प्राप्ति और प्रयोजन हो जाएगा और जैसे दूसरा प्रयोजन आपका मुख्य हो गया आपकी सारी क्रियाएं स्तुति प्रार्थना का जो रूप आपके प्रयास आपकी मनस्थिति वो वैसी हो जाएगी लौकिकों जैसी हो जाएगी लौकिक स्तर पर आ जाएंगे आप जब भी बोलेंगे क्या होगा लौकिक स्तर पर आप आ जाएंगे और समण रखना लौकिक स्तर पर आते ही पूर्व जन्मों के संस्कार इस जन्म के संस्कार ऐसा आक्रमण करेंगे जितना आज तक आपने सुना था उसको नीचे दबा के रखेंगे देंगे उभरने की संभावना नहीं रहेगी ये जन्म जन्मांतर के संस्कार काम क्रोध लोभ वो इशनाएं ये इतना ढेर लगा हुआ है इतने जन्म हुए होंगे इस जन्म में जो है वो अतिरिक्त है और ये जो नई नई बातें सीखी आपने ईश्वर प्राप्ति मुख्य है मोक्ष प्राप्ति मुख्य है ये कुछ दिनों से सुनी है थोड़ी सी सुनी है और ये है भी सूक्ष्म ये कहां जाएंगे लुप्त से इस विद्या को प्रयास करते उस प्रयास में भी यदि कुछ भी ढीलापन रहता है यहां भी भूल जाते हैं एक सेकेंड और बाहर जाएंगे नगरों गांव में तो फिर तो बहुत तीव्रता से भूलेंगे शीघ्र भूलेंगे आप वो प्रभाव आपको ऐसा मिलेगा कि आपकी बातों को एकदम दबाने वाला होगा उसको रोकने के लिए वहां का वहां जमा रहने के लिए अभी आपको बहुत सज्जा शक्ति सामर्थ्य उपार्जित करना पड़ेगा तब तो नगरों गांवों में जाके आपका ये रह सकता है स्तर नहीं तो नहीं रह सकता गिरेगा हाथों से चला जाएगा और आप सांसारिकों व्यक्तियों जैसी स्थिति वाले प्रवृत्ति वाले व्यवहार वाले हो जाएंगे कभी कभी ब्रह्मचारी गुरुकुल में पढ़ते पढ़ाते कालांतर में वो उपदेश के रूप में चलते हैं बाहर जाते जाते जिस समय नए नए वो गांव नगरों में जाते हैं तो आदर्शों को सामने रखते हैं खाना पीना उठना और बोलना और ऐसी स्थिति यदि वो अपना स्तर ऊंचा नहीं बना के चले थे और आज भी उसको इतना रखने का पूरा प्रयास नहीं है तो कुछ दिनों में कुछ मास और वर्षों में उस व्यक्ति का स्तर अवसरवादी जानबूझ के झूठ बोलना आदि आदि लौकिकों के जैसे झगड़ना दूसरे को गिराना अपने को उठाना ये प्रवृत्तियां उसको दबा लेती आपकी भी ऐसी स्थिति होगी सुना था कि समस्त पदार्थों का विद्या का आनंद का स्वामी ईश्वर को मानना अपने स्वामित्व को छोड़ देना ये आपने बहुत सुना आपने इसको जो का तो बनाए रखने के लिए कोई प्रयास नहीं किया तो ये जो जाना था स्तर बना था ये समाप्त हो जाएगा पहले वाला स्तर आएगा आप स्वस्वामी संबंध स्वयं पदार्थों के विद्या के सुख के स्वामी बन जाएंगे ईश्वर को फिर छोड़ देंगे आप जैसे ही आप ईश्वर को छोड़ेंगे अपने को स्वामी बनाएंगे आपका स्तर धड़ाम एकदम नीचे जाएगा और जैसे पहले थे वैसे बन जाएगा आपने सुना पढ़ा होगा दर्शन के प्रकरण में रितंबरा बुद्धि वाला व्यक्ति जो चार प्रकार के योगी आए है ना आपने देखा असावधानी प्रमाद और वो मान की इच्छा करता है और भूगों की ओर प्रवेश होता है तो क्या होगा अनिष्ट सुना है या नहीं पुनर् अनिष्पंग होता है नहीं तो जो उस पीतम्बरा बुद्धि समाधि को प्राप्त व्यक्ति यदि असावधान होने से अर्थात भोगों में रुचि रखने से और मेरा सम्मान जो कितना बड़ा हो गया हूं मैं ऐसे वो अनिश्चितता को प्राप्त होता तो आप वो तो शास्त्र किसको मिली हो तो बताओ आपको ये रिदम वाली स्थिति मिली है या नहीं मिली हाथ खड़ा करो नहीं मिली हो तो नहीं मिली हो तो हाथ खड़ा करो मिली मिली हो तो हाथ खड़ा करो प्रतीत होता है अच्छा ठीक है अच्छा उसकी जैसे वैराग्य के लक्षण है और जैसे रितंबरा वाले को जो अनुभूतियां होती हैं वो भी आना चाहिए हर समय तो नहीं ऐसा ना भले ही थोड़े काल रहे और आपको ये जो मैं बतला रहा था ना उसका सतत स्व स्वामी संबंध हटा हुआ रहना और ईश्वर का स्वामित्व बना हुआ रहना ध्यान देना और उस व्यक्ति का संबंध ईश्वर के साथ रहना ईश्वर परिणाम वो नहीं टूटना यदि वो टूटता है तो या टूटा हुआ है तो फिर वो स्थिति नहीं मानी जा सकती और सुना उस स्थिति में जाके व्यक्ति निदांत क्लेशों से मुक्त मुक्ति जैसा अनुभव करता है वो एक क्लेश नहीं सताता उसको जब तक वैसी स्थिति बनी रहे और ये काम क्रोध तो आदि जो है उभार नहीं उभार में नहीं आ सकते और ऐषणाएं जो है वो भी वहां उभार में नहीं आती उस स्थिति में रहते हुए और कुछ आप मैंने आपको बतलाया था कि जब वो स्थिति रहेगी तो ये मस्तक का ये भाग प्रभावित होगा स्वभाव से जब वो स्थिति बनती है तो ये प्रभावित होता है जब एकाग्रता टूटती है तो ये प्रभाव नहीं रहता दूसरी बात आपको सुनाई जाती थी अभी गई थी कि वो लोक का जो स्तर सुना था ना प्रलयवत है वो अवस्था बनी रहेगी इसको अनित्य को अनित्य देखता रहेगा वो सतत और यदि ये हटते ही फिर नित्य को नित्य देखने लगेगा हटते ही तो आप अनुभव करते जाए और ये जो तुष्टि दोष सिद्धि दोष जो सांख्य में आया है इससे अपनी रक्षा करना बहुत आवश्यक है कितने ही लोग साधक साधिकाएं हों वो स्थिति वास्तव में समाधि की होती नहीं है और वो ये मान लेते हैं कि मैं समाधि में पहुंच गया हूं ईश्वर का दर्शन हो गया ये ईश्वर का दर्शन है और मुझे आगे कोई प्रापणीय ऐसी स्थिति नहीं रही है ये उनको तुष्टि दोष सिद्धि दोष आता है परंतु आप समझ रखना यदि ईश्वर को स्वामी मानते चले जाएंगे तो तुष्टि दोष सिद्धि दोष नहीं आएगा बताओ क्यों नहीं आएगा कौन बताएगा क्योंकि हमारा लक्ष्य भी सिद्ध नहीं हुआ है नहीं वो सब सिद्धि और जो हमने प्राप्त की हो तो ईश्वर को दे दी तो फिर हमारे पास तो अब ये ये ये पकड़ गए ना बात को जो व्यक्ति को ये स्थिति उभरती है कि ये मेरी अंतिम स्थिति है क्या वहां पर एक बात क्या ईश्वर की अनुभूति हुई उसको एक अथवा ये उपलब्धि हुई ये ईश्वर के समर्पित कर दी उसने ये अपने पास रखी और जो उसको जो अभिमान होता है वहां ईश्वर को स्वामी न मानने से होता है वो यदि ईश्वर को स्वामी मान लिया जाए सब कुछ का आनंद का सिद्धि का तो फिर नहीं आएगी वो बात कि मैं बड़ा बन गया हूं ये आएगी और तुष्टि दोष में वो देखेगा कि वो अनुभूति जो ऋषियों ने सुनाई ईश्वर साक्षात्कार से जो आनंद मिलता वो आनंद मिला या नहीं मिला और आनंद मिलने पर यह भी माना गया कि ईश्वर का अनुभव भी होगा क्या वो हुआ नहीं तो ये ये अंतिम अवस्था नहीं है ये यहां तुष्टि करना मूर्खता की बात है कितनी ऐसी त्रुटियां दोष हैं कि ईश्वर को स्वामी मानने पर वो उभरते ही नहीं ईश्वर को स्वामी मानते हुए जो चलते हैं उसी की वस्तुएं हैं उसी से हम कुछ कमाते धन संपत्ति हमारे पास में है और वो संपत्ति भी ईश्वर की है क्योंकि उसी के साथ नशे कमाई गई है उसका आकर्षण झुकाव व्यक्ति का ईश्वर की ओर बना रहता है लौकिक चीजों की ओर होता ही नहीं अब देखो एक स्थिति जब वो इस संसार को अनित्य देखता है प्रलवत देखता है और याद रखना अनित्य संसार को ही देखता है यहां सीमा ने बनाना वो इन चीजों को जैसे सुख है लौकिक सुख है उसकी सुख साथ उनको भी अनित्य देखता है और ये जो संबंध है परस्पर के पारिवारिक इनको भी अनित्य देखता है सब कुछ को लगा लिया जो सब कुछ को अनित्य देखता है तो इनकी ओर जो आकर्षण था जो प्रेम था वो जितना है वो समाप्त होता वो उसके साथ लौकिक वस्तु के साथ संबद्ध नहीं रहता व्यक्ति और उसको जो ईश्वर में सब कुछ देखा उसने अनंत ज्ञान बल आदि जो कुछ देखा ईश्वर की ओर आकर्षण बढ़ता गया ईश्वर की ओर उसकी प्रीति बढ़ती गई अब वो कैसे सोचता है शरीर में जैसे कोई व्यक्ति नीचे से उठ के ऊपर की ओर चला गया हो एक स्थूल दृष्टांत एक दस मंजिल का भ्रमण हो कल्पना करिए और वो व्यक्ति नीचे से की मंजिलों को छोड़ गया ऊपर जाता जाता ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर चलता गया नीचे के भागों को जैसे वो छोड़ता जाता है ऐसे ये व्यक्ति शरीर और संसार को ऐसे छोड़ता जाता है और छोड़ता जाता है ईश्वर की ओर बढ़ता जाता है जब उसका वो संबंध ईश्वर से कट जाता है टूट जाता है वो फिर ही नीचे की ओर आता है और फिर आकर्षण होता है लोग की ओर तो इससे पता चलता है उसकी स्थिति जब समाधि की होती है तो वो ऐसे ऊपर चढ़ गया हो जैसे ऊपरी स्थिति चली गई हो कलेश से छूट गया हो राग द्वेष नहीं रहे जैसे जैसे वो स्थिति बिगड़ती है तो राग द्वेष फिर उभरते हैं लोक की और रुचि आकर्षण होता जाता है ये अनुभूतियां भी मिलेंगी देखिए अब आपको जो सुनाया था कि पूरे संसार को नाशवान देखना नाशवान सिद्ध कर लेना उसकी जो भिन्न भिन्न स्थिति बताई थी शब्दार संबंध से जानना एक भिन्न स्थिति है और वास्तव में उसका शत प्रतिशत निर्णय होना और जैसे अभी अभी विद्यमान नाश हमारे सामने हो ये स्थिति उत्पादित करनी पड़ती है और अरब वर्ष मान लीजिए अरबों वर्षों का काल जो व्यतीत हो गया है और अरबों वर्षों के पीछे मान के चलिए एक अरब सृष्टि का प्रलय होगा समझना उस अरबों वर्षों के काल को जैसे क्षण भर का काल हो ऐसा दिखाई देता है समझ में आया हो या नहीं हुँ? हम्म? अब मोटा दृष्टांत लेते हमारा शरीर मरेगा ही हम सोचते हैं हाँ मरेगा मरने के पश्चात हम देखें दस वर्ष पंद्रह बीस वर्ष चलेगा फिर मर जाएगा ऐसे चालीस वर्ष चलेगा हाँ सोचते और वो चालीस वर्ष जो है हाँ, साठ क्यों नहीं लगाए वो जो ये निर्णय करेगा ये निश्चित रूपे न मरेगा और मरने पर ऐसी स्थिति ही होगी वो साठ वर्ष का काल आपको एक इतना दिखाई देगा अब ये बुद्धि बनानी पड़ेगी आप समझ में तो आया नहीं आप कल वाला दृष्टान आदेश फांसी का होगा ये व्यक्ति फांसी तोड़ा जाएगा बिजली से जलाया जाएगा अब पहले आप सोचते थे कि ये 20-40 वर्ष के पीछे मर सकता है ऐसा अब 12 बजे बिजली से जलाया जाएगा अब निर्णय हो गया अंतिम निर्णय हो गया और आपको ये कई घंटे का जो समय दिखता है बीच में ये ऐसा ऐसा दिखाई देगा कि हां गया मैं और ऐसा हो गया राख बन गई या आपको कुछ मेरी बात गलत समझ में आ रही है है जी ऐसे होता है कि वैसे कहा तो जा हैं या फिर बात दिमाग में नहीं बैठती ऐसा भी होता है जब ये प्रलवत बनाएगा वस्तु तत्व इसका वैसा हो जाएगा जैसा कि समाधि वाले प्राप्ति वाले का होता है उस समय नाम और रूप जो उपनिषदों में आया है वो दोनों नहीं दिखाई देंगे दोहराओ क्या समझ में आया कौन सुनाएगा उस प्रलय के काल में जब वो स्थिति बनाएगा तो नाम और रूप दोनों ये दिखाई नहीं देंगे यदि दिखाई देते हैं तो प्रलवत अवस्था नहीं है गौतम जी और गौतम जी का नाम गौतम और ये शरीर जो नामी ये दोनों के दोनों दिखाई नहीं देंगे और इतना ही नहीं अपने दिखाई नहीं देंगे और पूरे विश्व के जो शरीरधारी जैसे उनके नाम और वो नामी दोनों ही दिखाई नहीं देंगे यदि अब दिखाई दे रहे हैं कल्पना कीजिए नए साधक की बात कर रहा हूं वो दिखाई दे रहे हैं तो आप मान लेना प्रलवत अवस्था जैसी बनानी चाहिए नहीं बनी है आपने उपनिषद में पढ़ा भी होगा क्या जैसे नदी और नाले है जी क्या है अच्छा, तो चलायमान होते हुए नदी नाले समुद्रम अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय वो गंगा नाम वो था और गंगा का आकार था दोनों ही के दोनों समाप्त नाम रूप को छोड़ गए योगी का दृष्टान्त है ईश्वर प्राप्ति वाले का दृष्टांत है समझे नहीं समझे नाम रूपों को छोड़ के वो समुद्र में लीन हो जाते पता ही नहीं चलता जी जो अद्वैतवादी लोग हैं वो ये दृष्टांत को लेकर के जीवात्मा का अस्तित्व समाप्त करते क्या समझ में आया बोलो चुपचाप क्यों बैठे हो दृष्टांत को लेकर अद्वैतवादी लोग देव की सत्ता को समाप्त करता माना करते हैं वास्तव में दृष्टांत उनके पक्ष में नहीं है ईश्वर जीव प्रकृति को मानने वाले के पक्ष में नाम और रूप अभिभूत हो गया है द्रोहित हो गया है बड़े समुद्र के नाम रूप जो भी कह, जल का अस्तित्व कहिए वो वहां विद्यमान है जो का जल के कण क्या समाप्त हो गए क्या उसके कणों में कण घुस गए या वो अपने अस्तित्व खो दिया नहीं अच्छा उस बात को देखो ये जो नाम रूप को समाप्त कर देना ये प्रलय अवस्था बनाने की स्थिति है और नाम और रूप आपको दिखाई नहीं देंगे और समण रखना अपने ही बुद्धि के द्वारा अपने ज्ञान के माध्यम से ही नाम और रूप को समाप्त करना पड़ेगा अपने सामर्थ्य अपने ही बुद्धि के माध्यम से ही समाप्त करना पड़ेगा अब आप देखेंगे ये कठिनाई कहां पर हुई आपका नाम देवदत्त है आप शरीर वान है अर्थात शरीर आपका अच्छा है और आप बलवान है आपके पास विद्या भी है आपके पास धन भी है जो कुछ है वहां पर धन संपत्ति विद्या आदि आप ध्यान देना आप उसको मिटा के रख दें अपने आप के शरीर को भी और धन संपत्ति को भी और गए आप भी गए ये और आपका नाम देवदत्त भी गया आप कैसे कर देंगे इसे ऐसी स्थिति कैसे संपादित करेंगे आप कुछ समझ में आया नहीं आया कमाया और संपादित करेंगे ना तो सब कुछ को मरा देखेंगे आप जब करेंगे इसको तो मरा देखेंगे ना और उस अवस्था कैसी गंभीर होगी कैसे आपकी आंखें बंद हो जाएंगी याद रखना यह भी एक प्रक्रिया जब वो व्यक्ति इनको बनाता है ऐसी स्थिति आती है तो बाहर हाव भाव देखना देखना ये सब बंद हो जाते हैं आप वैसे ही हंसते रहे ऐसे बोलते रहे ऐसे जैसे पहले रहते थे ऐसी स्थिति बनाए रखें मैं और मेरा है वो है मैं उससे अच्छा हूं मुझसे कमजोर है आदि आदि ये प्रवृत्तियां नहीं रहेंगी बाबू जी आलस्य ज्यादा कैसे आ रहा है अब सीधी बात करने लगू आपसे हम मुरझा गए टेढ़े हो गए बताओ मैं क्या कह रहा हूं इसकी दो स्थितियां और सुनी उसने पूर्व से माता पिता गुरु के माध्यम से ये विद्या नहीं सीखी कि ईश्वर अलग है और मैं पृथक हूं प्रकृति पृथक है दृढ़ उसका ज्ञान विज्ञान नहीं है कल्पना की ये ज्ञान विज्ञान गुरु ने सिखाया हो पहले उसका दृढ़ हो चुका हो तो वो क्या देखेगा दृढ़ हो चुका हो तो वो इसको ऐसे देखता हुआ अपनी सत्ता को जो का जो मानता रहेगा क्या समझ में आया इसको नाश रूप में देखता हुआ अपनी सत्ता को शरीर आदि से अलग मानता रहेगा यदि बिना इस प्रशिक्षण के खोज की है गवेषणा की है इन तत्वों को प्रत्येक प्रत्येक रूप में नहीं रहा तो उसकी स्थिति क्या बनी रहेगी हो सकता है एक स्थिति तक अपने को भी वो समाप्त मानता रहे <laughs> क्या समझ में आया वासुदेव जी कुछ आ रहा समझ में है जी आपको सुन रहा माता जी ठीक है वो अपने आप को भी नाशवान ही मानता रहे इसको हम कहते हैं ना वो विप्रवृत्ति के उदाहरण विप्रवृत्ति के उदाहरण बनेंगे ना इसके ये सब कुछ को नाशवान माना इतनी अच्छी स्थिति आ गई ऐसी स्वतंत्रता उपलब्ध हो गई अपने को भी नाशवान मान रहा है वो है इतनी स्वतंत्रता इतनी आजादी अपने को नाशवान माना है ये दिन और जब आत्मा को भी मानेगा नित्य नाश नाशवान तब भी उसको तो वही आने <laughs> उसमें भी तो वही स्थिति कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा और वही ये माताएं तो बैठी तो हैं कुछ तो इनको भी आता होगा थोड़ा बहुत ये तो अच्छा स्वाध्याय कर चुकी है ना और अध्ययन लंबे काल से उनको थोड़ा आता होगा वासुदेव जी कुछ अच्छी गति रखते पर वो ऐसा कर पाएंगे या नहीं या गति गति रख करके वहां घर पर बैठे रहेंगे ये हमको पता नहीं अध्यापक जी भी कुछ हो सकता है वो बढ़ जाए है जी और जब ये कहेंगे प्रताप नाम का व्यक्ति नहीं रहा ना शरीर ना नाम तो ये घबराएंगे वाह ये, ये तो भाई वो कहेगा भाई मैं इसमें नहीं जाना चाहता डर लगता है वहां भयंकर डर लगता है और डरने वाला व्यक्ति याद रखना वह विवेक वैराग्य की स्थिति को प्राप्त हो नहीं सकता जब तक डर रहेगा दो तो आपने बताई एक अपने को भी अपने को भी समाप्त मान लिया सृष्टि की बाकी है और एक एक इस सृष्टि को मान लिया ये सृष्टि का प्रलय होगा सत्वर तम आएगी सब वस्तुओं का प्रलय मान लिया और अपने का अपने को यदि हो ज्ञान विज्ञान गुरुओं से पहले से न मिला हो या स्थिति ना हो तो उसमें अपने को भी नाशवान मान लेगा तो ज्ञान विज्ञान के साथ वो चला हो तो इस सृष्टि को तो सत्वर तम परिवर्तित मान लेगा ज्ञान विज्ञान के साथ और अपने को भी अलग मानेगा शरीर आदि से पर आप, आप स्वयं को नाशवान नहीं मानेगा वो ये दूसरी स्थिति है हाँ ये ऊंची है ना दूसरे ढंग से तो उस स्थिति में आप देखेंगे आप जब इसको बनाने चलेंगे ऐसी स्थिति को ऐसा बना देंगे उस समय भयंकर डर लग सकता है और प्राय लगेगा यदि पहले की स्थिति दृढ़ न बनी हो ध्यान देना उसने पहले गवेषणा की कि मैं सदा जीवित रहूं मरू कभी नहीं ये उसकी अभिलाषा रही है लंबे अब उसने गवेषणा की क्या मैं सदा रहता रहूं ज्यो का तो रहूं ऐसा कोई उपाय है ये वो ढूंढने लगा और उसने ढूंढते ढूंढते पूरा विश्व ढूंढ डाला जिनको सामने देख चुके नहीं देख उसको अनुमान प्रमाण से सारा विश्व ढूंढ डाला उसने कहीं भी ऐसी जगह ने देखी पदार्थ ने देखा जिसे वो मरे नहीं कोई ऐसा कोणा कोई चप्पा चप्पा ढूंढने पर नहीं मिला जब नहीं मिला तो वो डरेगा नहीं डरेगा तो फिर लौट के आएगा फिर से देखो ये कड़िया आप रखेंगे सामने और रखेंगे तो आप उलझेंगे नहीं नहीं तो उलझ जाएंगे आप यदि उसने पूरे विश्व को ढूंढ डाला है कल्पना से वैसे तो भाग्य कहां जाएगा उसने ये देखा कि कोई ऐसा उपाय नहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं कोई ऐसा पदार्थ नहीं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे सदा जीवित रख सके नहीं है अच्छी तरह देखा तो डर लगने लगेगा तो लौट के भागना चाहेगा <laughs> कहां जाएगा क्यों जी मृत्यु से डर के कहां जाएगा जहां दौड़ लगाना आरंभ करेगा विचार करेगा वहीं मौत दिखाई देगी कोई ऐसा स्थान नहीं जहां मृत्यु ने होती हो तो कहेगा कहां जाऊं फिर इधर अनिवार्य रूप से आ रही है उन्होंने कहा कि आज ही क्यों नहीं देख लो इसको आते समय क्या होता है वो यहां पर पहुंच जाता जैसी स्थिति होगी मरते समय या मरने के लिए उसको आज ही वो यहां आता है यदि उन्होंने सारे क्षेत्र नहीं बिचारे हों सभी पूरी गतिविधियों को न देखा हो तो वो डर करके संदेह भ्रांति हो सकती है ऐसी जगह हो कि मैं न मरू तो वो डर जाएगा भाग जाएगा वो नहीं चलेगा योग की योग का क्षेत्र उसके हाथ नहीं लगेगा लौट जाएगा अपने को मारना नाम नामी को समाप्त कर देना समाप्त रखना दिन भर और थोड़ी सी बातें समय को जारी ले रहे हैं क्यों नहीं तो उसमें याद रखना वहां पर कितनी गतिविधियां सामने आएंगी जो आपको उखाड़ के फेंक देंगे आप में से सभी ब्रह्मचारी हंसते भी हैं बोलते हैं कूदते हैं उछलते हैं व्यायाम करते हैं खाते पीते हैं देखते रहते हैं दूसरे की ओर वो न ऐसा खाता है न देखता है न आंख खोलता है सबको सामने आता तो उनके चेहरे को नहीं देखना चाहता चेहरे को देखता है तो उत्पत्ति प्रलय समाप्त हो जाए प्रलय करता तो चेहरा समाप्त हो जाए अब क्या करो समझ मारा कितने वर्षों तक मैंने इसके प्रयोग किए गुरुकुल में भी प्रयोग चलते रहे हम, हम जब स्नानागार के लिए चलता ना तो आंखें ऐसी रहती थी स्थिति को बनाए रखू और लोके थे तो आंख बंद रखता आचार्य वेदव्रत जी और मैं मीमांसा दर्शन पढ़ते थे अजमेर में तो मैंने जहां तक देखा सुना पंडित जी देशी मीमांसा पढ़ते ही थे और मैं वहां भी ऐसे ही रहता था बात सुनता था तो वो कहते थे ये तो सोता रहता सारे पाठ में अब बताओ कैसे क्या करोगे आप और गुरुकुल मुझे पढ़ते थे तो मैं बोलते समय चलते समय ऐसे आंख बंद है और बात वही करना रुचि को बनाए रखना श्रेणी बैठता तब रखना जब अध्यापक जी कहते ये ये क्या करेगा ये क्या पढ़ेगा वो हंसी उड़ाते थे अब आप देखेंगे उस हंसी में <laughs> उस अवस्था को बनाए रखेंगे या छोड़ेंगे उस अवस्था को नहीं आ रहा समझ में ये सारे बन जाएंगे क्या हो गया इसको दिमाग खराब है दिखाओ इसको पीछे पड़ जाएंगे सारे सारे वो अवस्था को रखे रखेगा क्या उस अवस्था को बनाया रखे तो ऐसा ही कहेंगे लोग नहीं तो उसी अवस्था में आ जाओ जैसे पहले थे कोई कुछ नहीं कहेगा और वही अच्छी चीज से तो समझ मारा नहीं ये विद्या चाहे आचार्य वेदवर जी हो चाहे जी हो इनको भी इस स्थिति में प्राप्त नहीं हुई जैसे आज बैठे नहीं हो सकती वहां जाना ही पड़ेगा ये विद्या प्राप्त करनी हो तो ऐसा बनना ही पड़ेगा अब ये गुरुकुल चलाते हैं ये आचार्य इस स्थिति में पहुंचने के लिए ईश्वर साक्षात्कार के लिए व्यक्ति को क्या क्या साधन प्रयोग में लाने पड़ेंगे बाधक कौन कौन से हैं जिनको दूर करना सरस्वती जी के जो ग्रंथ हैं उनका एक भी भाग है वेदभाष्य ये आप यहां पढ़ते हैं सुनते हैं और इससे जो आपको प्राप्ति होती है एक बहुत बड़ा ये साधन है दोहराओ क्या समझ में जो आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी का वेद भाष्य पढ़ते सुनते व्याख्या करते ये ईश्वर प्राप्ति के लिए एक बहुत बड़ा साधन है ईश्वर जैसे पदार्थ को शत प्रतिशत निर्मित करके आरूढ़ हो जाना कोई साधारण कार्य नहीं है दोहराओ क्या समझ में आया फिर सुनाऊ नहीं आया तो नहीं कहो कर लेना और उस पर आरूढ़ हो जाना हाँ। ये कोई छोटी मोटी बात हाँ उसमें संकेत था ईश्वर जैसा विचित्र पदार्थ <laughs> जो वैज्ञानिक घबराते हैं जिससे उसको उसी रूप में शत प्रतिशत मान के चलना संशय न रहना कोई साधारण कार्य नहीं है हाँ जी बोलो विश्वेश जी कहां चले गए थे ईश्वर को लक्ष्य मानना मानना आरूढ़ होना हाँ कोई साधारण कार्य नहीं जैसे आप सुनते हैं कि ये पूरा विश्व जिसकी सीमा हम समझते हैं कोई नहीं जान सकता ईश्वर को छोड़ के इतना इतना बड़ा और उसको समझाने का प्रयास किया <clears throat> वैज्ञानिकों की बात सुनी होगी आपने है? कि एक सूर्य का प्रकाश एक सेकंड में कितनी दूर और फिर मासों में कितनी वर्षों में कितनी और 20 30 वर्ष और हजार वर्ष भी शायद वो कहते होंगे वो चलता रहता है और तब दूसरे लोक पर जाता है तो कितनी बड़ी ये शक्ति होगी नहीं आया समझ में जी माता जी समझ में आया कितनी बड़ी शक्ति होगी एक सेकंड में लगभग जहां तक मुझे याद है सूर्य यहां से संभावित है पंद्रह करोड़ किलोमीटर दूरी है क्या समझे आप इतना ही ना पंद्रह के लगभग अब ये सूर्य का प्रकाश लगभग आठ मिनट में यहां आता बताया जाता है आठ मिनट में और इतना इतना एक सेकंड की गति प्रकाश की ले लो और फिर घंटों की बात ले लो फिर दिनों की ले लो फिर मासों की ले लो फिर वर्षों में चले जाओ और इतने वर्षों तक वैज्ञानिकों का जो कहना है प्रकाश चलता रहता है और कितने वर्षों में जाता है दूसरे लोग के पास तो कौन कल्पना करेगा इसको जाना कैसे जाए कोई व्यक्ति वहां तक और उसके संबंध में एक बात कही गई कि देखो परमात्मा इतना बड़ा है उसकी कल्पना की चार विभाग बनाए काल्पनिक समझाने के लिए एक दो तीन चार उन्होंने कहा यह सारा संसार एक भाग में रहता है और तीन खाली पड़े अध्यापक जी बोलो क्या कहा परमात्मा इतना बड़ा है वो इतने बड़े संसार के सामने तुलना की कि ईश्वर इतना बड़ा है चार विभाग बना लो हाँ जी और उसके एक भाग में पूरी सृष्टि रहती है तीन भाग बिल्कुल खाली पड़े अब बताइए ऐसा भी कोई पदार्थ हो सकता है क्या वो वस्तु है क्या है जी आपको यहां आना पड़ेगा कि निश्चित रूप में वो वस्तु है पदार्थ है द्रव्य है यहां पहुंचना ही पड़ेगा नहीं तो आप कैसे योगी बन जाएंगे और कैसे उस पर स्थिर होकर चल सकते हैं अब ये जो वेद पढ़ते हैं आप अब वो जो वेद है महर्षिदान सरस्वती जी का ऐसी ऐसी बातें कैसे मिलती हैं आपको ध्यान दें ये जो दोष आते हैं ना हमारे अंदर गुण बलवान हो गए विद्वान हो गए योगी बन गए और कुछ कहिए जितने भी ज्ञान बद आते हैं ना हमारे अंदर जो आता है ना मैं बड़ा मैं छोटा ये छोटा ये बड़ा ये कल्पनाएं जो जब तक चलती है जब तक वो ईश्वर को नहीं समझता इन दोषों से इतनी घृणा होती है ये बाधक दिखाई देते हैं और वो व्यक्ति फिर ईश्वर से संबद्ध होता और अपनी ठीक स्थिति में पहुंच जाता दूसरा बात आर्योदेश रतनमाला व्यवहार भानु सत्यार प्रकाश ऋग्वेदादि भाषे होंगी इन ग्रंथों को पढ़ो और पढ़ाओ अच्छे प्रकार से समझो और फिर पढ़ाने का सामर्थ्य प्राप्त करना तो आपको बहुत सरलता हो जाएगी बहुत सुविधाएं हो जाएंगी बाधाएं बहुत सी दूर हो जाएंगी यदि आप इनको अच्छे प्रकार नहीं पढ़ते समझते नहीं और पढ़ा नहीं सकते तो आपकी प्रगति रुकेगी बाधा पड़ेगी आपको सफलता इतनी नहीं मिलेगी अच्छा आप ब्रह्मचारी से मैं पूछू मान के चलो सत्यार प्रकाश के दस सुमूल्लास से पहले वाले बात तो आप में से कितने पढ़ा सकते हैं बस इसको दूसरे बुद्धिमान को पढ़ाना पड़े तो बताओ क्या अधिकार पूर्व या अच्छे प्रकार से यूं तो कोई कोई बातें तो रुक जाना यह अलग विषय होता है पर जो एक स्थिति है पढ़ा देना संतोषजनक पढ़ा देना वहां पर पहुंचिए कौन कौन पढ़ा सकते हैं नहीं पढ़ा सकते हो तो कुछ पूछू मैं आपसे परीक्षा तो थोड़ी सी ले ही लेनी चाहिए अब भाव सुनाता हूं सप्तम सुमुल्लास है जी आप ईश्वर ईश्वर करते हैं उसका प्रत्यक्ष कैसे करते हैं प्रत्यक्षवादी परमाणु से भाव सुना रहा हूं यह नहीं समझा मैं पंक्ति सुना रहा हूं प्रत्यक्षवादी परमाणु से उन्होंने कहा प्रकरण आगे बढ़ता है जब व्यक्ति विशेष आभूषण देखता है और उसको विशेष ज्ञान होता है इसका कोई करता होगा ईश्वर का ऐसे जान और ऐसे ही सृष्टि की रचना देखी इसका ईश्वर करता ज्ञान होता है और जब बुरे विचार करता है मैं चोरी आदि बुरे कर्म करूं तो भय शंका लज्जा उत्पन्न होते हैं तो वो भय शंका लज्जा उत्पन्न ईश्वर से होती है उससे ईश्वर प्रत्यक्ष होता है और कहीं कहा गुणों का प्रत्यक्ष होता है गुणी का नहीं फिर कहता नहीं यहाँ गुण गुणी का प्रत्यक्ष होता है यह कहता है दोनों का प्रत्यक्ष होता है चलता ना प्रकरण है एक बात आगे ईश्वर का पहला दृष्टान दिया सृष्टि का आभूषण का देखिए फिर दिया भय शंकर लज्जा का दिया दिया फिर कहा भाव सुनाता हूं जिस जीवात्मा ईश्वर के विचार करने में तत्पर रहता है तो उसको दोनों का प्रत्यक्ष होता है परीक्षा के रूप में भी है और औरों को भी इस देखिए परीक्षा का मतलब आपको दुख देना नहीं है हाँ आप मतलब ऐसा मत मानना आप ये बताओ ये पहले कहते आए कहते आए कहते दोनों का प्रत्यक्ष होता है पहले आता गुण का प्रत्यक्ष होता है फिर क्या गुणी का प्रत्यक्ष होता है ऐसे चलते चलते कहा इस अवस्था में दोनों का प्रतीक होता है अब आपको पूछेगा वो दोनों कौन है पढ़ाओगे ना जो वो पूछेगा हाँ बोलो गुण और दोनों कौन गुण और गुणी परमात्मा और उसके गुण क्योंकि ये ठीक उत्तर है कौन देगा ये ठीक गौतम जी बोले कि ठीक है ये स्वामी जिस पदार्थ का साक्षात्कार करेगा हाँ तो उस पदार्थ के साथ उसके गुणों को भी वह जानेगा हम्म। तो इस दृष्टि से अच्छा सुनो अब कुछ बुद्धिमान कहिए विद्वानों ने इसका अर्थ क्या किया मतलब सूक्ष्म होने से बता रहा हूं इस दृष्टि से नहीं उनको अपमानित करें ये जो दोनों का जो प्रत्यक्ष है आत्मा और परमात्मा का दोनों का प्रत्यक्ष होता है दूसरे विद्वान ने भी यही लिखा है एक विद्वान ने यह लिखा कि दोनों का ईश्वर जीवात्मा का दूसरे विद्वान ने यही लिखा ईश्वर जीवात्मा का तो वो बात ठीक माने आप वाली माने स्वामी जी वहां पर जो मतलब संगति मतलब मुझे जो उपाध्यक्ष जी ने पढ़ाया था और मैं जो समझा भी हो हाँ। वो गुण और गुणी का ही बताया था मुझे अच्छे से ध्यान है वो शब्द भी और वो पृष्ठ तक याद है अर्थात ऐसी ऐसी गंभीर बातें हैं ऐसी ऐसी सूक्ष्म बातें हैं जिनके ऊपर बहुत परिश्रम हम करते जाएंगे समझ में आती चली जाएंगी कितने दिनों में हम भी तो इसको पढ़ते हैं पढ़ाते हैं बार बार और ये पढ़ते रहे पढ़ाते रहे पढ़ते रहे पढ़ाते रहे भाई दोनों का प्रत्यक्ष जीवात्मा और परमात्मा ले लिया जाए और क्या करें फिर पढ़ते हैं फिर प्रकरण का हिसाब लगाते हैं तो फिर परिणाम पर पहुंचे दोनों का अर्थ यद्यपि समाधि में दोनों का प्रत्यक्ष होता है इसका निषेध नहीं है पर इस प्रकरण के आधार पर जो बात है इसमें जीवात्मा और परमात्मा का प्रत्यक्ष ये तात्पर्य नहीं है ईश्वर पहले तो अनुमान प्रमाण जैसे जाने जा रहा था समाधि में ईश्वरीय व्यक्ति है पदार्थ उसके आनंद आदि गुण है मतलब वहां दोनों का प्रत्यक्ष होता है एक कार्य मैंने बतलाया क्या आर्योदय सरतनमाला व्यवहार भानु सत्या प्रकाश इनको इतना अच्छी तरह पढ़ो एक एक पंक्ति के ऊपर बड़ी श्रद्धा रखो ये जो आ, मैंने जो विचार किए गुरुकुल में जाना फिर उसके संबंध में जो उलझने आती रहती थी बीच बीच में ये यहां क्यों ऐसा क्यों मैं सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेदादी भाषी भूमि का वहां जो द्वारे खड़ी थी ना इन मैं वहीं इनको मैंने पढ़ा सत्यार्थ प्रकाश को और ऋग्वेदादी भाषी भूमिका को पढ़ते रहते किसी से पूछ लेते कितनी बातों का समाधान होता रहता तो उसके आधार पर बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हम करते हैं आप यदि महर्षि के ग्रंथों को ऐसे नहीं पढ़ते अच्छे प्रकार नहीं पढ़ाते तो आपको वो विद्या नहीं आएगी ईश्वर साक्षात्कार की स्थिति में कठिनाइयां उपस्थित हो जाएंगी आपके संशय कई भ्रांतियां वो दूर नहीं हो पाएंगे अब दूसरा भाग आप दर्शन पढ़ते हैं उपनिषद पढ़ते हैं वेद का भाष्य करते पढ़ते हैं तो उसमें याद रखना संस्कृत साहित्य संस्कृत भाषा में है सब कुछ दर्शन उपनिषद वेद स्मृति आयुर्वेद ये संस्कृत भाषा में आप ध्यान दें और संस्कृत भाषा में आपकी गति नहीं विशेष सामान्य जैसे कि रचनानुवाद कौमदी जो पुस्तक है तीन भागों में पहले भाग को आप पढ़ा नहीं सकते अब पढ़ भी जा नहीं सकते तो क्या गति हुई आपकी भाषा दूसरे भाग को नहीं पढ़ा सकते ना पढ़ सकते तीसरे को भी नहीं पढ़ा सकते ना पढ़ सकते तो संस्कृत भाषा क्या आई आप अब क्या प्रगति करेंगे वेद और दर्शन और उपनिषदों में या नहीं जस्ती ये बात बहुत कम गति हो पढ़ने और पढ़ाने में निष्कर्ष निकालना और अधिकार पूर्वक विषय का प्रतिपादन करना ये कार्य नहीं हो पाएगा क्या समझ में आया कम से कम है कम से कम ये तीन पुस्तक देखी रचनानुवाद कौमदी का पहला दूसरा तीसरा भाग ये तो याद है आपसे मैं पूछूंगा ब्रह्मचारियों से तीनों को कौन पढ़ा सकता है इन तीनों भागों को आप बताओ जो पढ़ा सकते आप पढ़ा सकते और कौन पढ़ा सकता है अब जो एक भी नहीं तो ये तो एक प्रकार का कड़वी भाषा में दिवालिया निकल गया एक और तो आप दर्शनों के विद्वान बन गए और कहते दर्शनों का विद्वान बना है और एक और आपको भाषा नहीं आती बोलनी लिखनी इतना नहीं इतनी भाषा भी नहीं आती क्या समझे आप क्या नहीं है दोष भयंकर क्या किसी को संस्कृत भाषा नहीं पढ़ा सकते आप एक दो तीन भागों को भी नहीं पढ़ा सकते अष्टाध्याय की बात तो आगे रही काशी का की महाभाषा की तो बहुत ऊंची बात तो इस इस दोष को दूर करोगे या नहीं करोगे ये बताओ है जी इसको दूर करने के लिए आप सुसज्जित हैं या नहीं है जी है और इसको पहले पार कर दो कम से कम आगे जितनी शक्ति है फिर अष्टादे की प्रथमा वृत्ति पढ़ो पढ़ाओ फिर काशी का तक व्याकरण फिर महाभाष्य तक व्याकरण तो वो जो है का विज्ञान भाषा विज्ञान तो वहां भाष्य तक चलेगा भाषा विज्ञान बहुत गंभीर कम से कम उतना नहीं कर पाए आप तो मध्यम काशी का जिसको बोलते हैं वहां आधा बीच का भाग व्याकरण का ले लो उतना ही नहीं तो प्रथमा वृत्ति को पढ़ने पढ़ाने का अधिकार कर लो तीन तो गए अब प्रथमा वृत्ति ना हो तो कम से कम इन तीन ग्रंथों जैसी इतनी संस्कृत तो आ जानी चाहिए कम से कम की बात करें अथवा वेदांत प्रकाश नामिक सामासिक छोटे छोटे ग्रंथ है ना ऋषि के और वो आख्यातिक तक इन खोपड़ ओपड़ आओ ये इसीलिए जहां तक मैं सोचता हूं सामान्य संस्कृत वालों के लिए इतना तो उसको आना चाहिए ये इसलिए ग्रंथ है इस रूप में वेदांत फलाना ये ये ये पढ़ो ये जो व्यक्ति विधि पूर्वक पूरे व्याकरण के विद्वान नहीं बन पाते जैसी उनके लिए इतना तो पढ़ो पढ़ाओ समझ माया तो ये वेदांत प्रकाश और ये तीन जैसे पुस्तक है इतना तो कर ही लेना चाहिए इतना भी नहीं करते तो आप क्या प्रसाद करते आपको जो समय मिलता है ना यहां वो इतना अधिक होता है पता नहीं क्या से क्या कर देगा ये जितने साधन यहां मिलते हैं उनको उपलब्ध के पता नहीं क्या से क्या मतलब कितनी ऊंची स्थिति हमने आचार्य जी ने जो पढ़ी है पढ़ाई है ना ये उसकी कथा सुन ले तो पता चल जाएगा मुझे गुरुकुल में रहता था तीन घंटी चालीस चालीस मिनट की विद्यालय विभाग मुझे मिलती थी याद रखना बारह बजे काम के लिए बाहर निकल गए दिन के बारह बजे कल्पना कीजिए और ये भी याद रखना वो नियमों का पालन कैसे करता था याद लाऊ मैं लिख रहा हूं ही और भय लिख दिया वह और टी रह गए बारह बजे वहीं भय को ही छोड़ दूंगा क्या समझ में आया क्या समझ में आया बोलिए भवती शब्द चल रहा है भवती कल्पना करें भय लिखा और वह और ती रह गया और बारह बज गई वह दो अक्षर मैं नहीं लिखूंगा मुझे कोई नहीं देखने वाला है पीछे कितने मिनट पीछे जाता हूं कितने आगे जाता हूं उसका क्या समझ गया अब विद्यालय के चालीस तीन चालीस कितने हो गए अब ये ये समझ में विद्यालय विभाग में रह गई दिनचर्या सारी दिनचर्या ब्रह्मचारियों के साथ करनी है आधा घंटा आधा दिन काम पूरा दिन काम मेरा अलग कार्यकार ब्रह्मचारी के साथ दो बार अलग में रहता था ये नहीं कि ब्रह्मचारी कार्य करते थे तो मैं नहीं जाता था उनके साथ भी कार्य करना बहुत कार्य होता था अति होता था राजी को खेतों में पड़ा रहना पड़ता था पानी लाने के लिए नाली में नहर से बीच में गाड़ी निकालने वाले काट गए बांध को बीच में उनको बांध को पानी लाओ जैसे तैसे गुरुकुल में इतनी दूर से नहीं समझे आप वहीं पड़े रहो दिन में तो आप कल्पना करेंगे मुझे इतना ज्ञात है कि कभी बीच में किसी ने थोड़ा सा सहयोग दे दिया बानाराम जी थोड़ा सा दे दिया नहीं तो कोई नौ वर्ष तो कितने लगभग कोई घी दूध की कोई व्यवस्था नहीं घी की दूध की और फलों की तो कल्पना ही कौन करेगा वो बिना नमक और बिना हल्दी भी साथ नहीं डालती हूं उबाला हुआ साथ और रोटी ऐसी कच्ची पक्की फेंक दिए ऐसे पशुओं के सामने जैसे कई बार फेंक देते हैं अब तो ऐसी अवस्था में विद्या पढ़ना शरीर को भी स्वस्थ रखना और कई मण लक्कड़ पाड़ने पड़ते थे कार्य के समय इतने मोटे मोटे घण होते थे मतलब और इतनी इतनी जो छोटी फिर बीच की फिर इतनी इतनी लंबी लगभग छीनी तो बड़े से बड़े लक्कड़ पूरी चली जाए उसमें कितने लक्कड़ फाड़ते थे तो मैं आपको तुलना की बात कर रहा हूं आपको जो समय मिला है साधन मिले कोई कल्पना नहीं कर सकता यदि मुझे ऐसे साधन समय मिल जाता तो पता नहीं क्या से क्या कर देता बाईस वर्ष के पीछे की बात कर रहा हूं मैं पहली बात तो छोड़ दो यदि माता पिता अच्छे मिलते तो वो फिर तो कथा ही क्या है बाल्यावस्था से ही होता और ये सारे को ले जाऊं वहां तक <laughs> अब आप कल्पना करो क्या कार्य करते हो आप कितनी पढ़ाई करते हो आप आपके अनुमान लगा लो आप आप नहीं सोचते तो आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है अजमेर राजा जी हम मीमांसा पढ़ते थे ना पूरी पुस्तक भी नहीं मिलती हमको लिपि प्रतिलिपि करके तीन अध्याय की तरीके आचार्य जी रखते थे ना उससे पढ़ते थे प्रतिलिपि करके उसकी किसका भाष्य है सावर भाष्य है ना प्रतिलिपि कर पूरी पुस्तक और याद रखना पौन घंटा मिलता था हमको पूरे दिन भर में मुश्किल है पंडित जी पौन घंटा मिलता उसमें शंका समाधान कर लो या पाठ पढ़ लो और पंडित जी की सेवा आचार्य जी करते थे जैसा पुस्तक भेजनी है प्रतिलिपि फलाना आदि आदि वो करते थे और सुन लो अनाथालय की रोटी उस समय याद की तो सुधर गई होगी आचार्य जी एक समय अनाथालय से रोटी ले आते दोनों के लिए समझे ले आते कैसी होती थी वो और एक समय स्वयं बना लेते और एक समय वो रोटियां ना खा लेके जाते और हमारे पास में किसी ने दस रुपये मासिक किसी ने दिए किसी ने ऐसे गुजारा चल रहा था घी दूध की जो सुव्यवस्था और वो क्या ऐसी नहीं हो पाई और समन रखना लगभग बताता हूं हम ऋषि उद्यान तो देखा होगा वहां से चलते थे दोनों नंगे पैरों <laughs> और वहां से चल करके उसको रामगंज कहते हैं क्यों जी आचार्य जी और वो आना जाना पता नहीं नौ मील पड़ता था या पूरा मुझे हिसाब नहीं वो कितने किलोमीटर पड़ता हुआ एक और जाना आज के किलोमीटर में आना और जाना कितने किलोमीटर पड़ता था तो ये देखिए उसमें जाना और भयंकर बाजार में से जाना एक और ईश्वर छोड़ जा एक और ईश्वर घूमो एक और ईश्वर इतनी और दौड़ पाठ याद नहीं कर सकता जाते जाते बचना और बचाना बचना बचाना चलता था बाजार का बीट है अजमेर का बचना बचाना बचना बचाना बचना बचाना और हम चलते तेजी से कि भाई इतना समय बचाना कई बार मुझे जो आती है ना महाराज जी क्या बात है क्या बात है वो सोचता कि इतना तेजी से क्यों चल रहे <laughs> और बड़ी एक रोचक बात सुनाता हूं आचार्य जी बौद्धिक परिश्रम था तो बहुत अच्छा और लिखने में और मैं शारीरिक परिश्रम बहुत अधिक ये डरते थे <laughs> शारीरिक परिश्रम जो था तो हमें क्या करते वहां जंगल था जो आज आपने ये जैसा दिख रही है फलाना बिज्जू नाम के जो पशु होते हैं ना बिज्जू देखा हो वो रहते थे यहां और हम यहां से लकड़ी तोड़ते गुजारा करते थे फिर हमें कुछ नगर के बीच में रहने लगे पीछे के बाग में तो यहां से लकड़ी ले जाना और वहां से रोटी बनाना तो आचार्य जी ने मैंने लकड़ी तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के गट्ठर बना लिए और हमारे कपड़े थे रंगे हुए जहां तक मुझे याद है है ना और हमने सिर पर गट्ठर रख लिया उनका लकड़ियों का साधु के देश में बाजार के बीचों बीच अब बताओ क्या करो आचार्य जी कहते थे मैं ये लकड़ी का जो गठन लेके आया मैं आपके कारण ही ले आया मैं अकेला नहीं जा सकता था इसका <laughs> मैं, अब मैं करता तो ये करते थे दा रखते थे तो कहते आपके साथ था मैं इसलिए आपके कहने से ऐसे में ले आया मैं स्वयं ये गठड़ी के गठड़ी को लकड़ियां नहीं ला सकता बाजार में समझ रखना ऋषियों की बातों में कितनी हमारी श्रद्धा थी एक एक शब्द एक एक की पंक्ति एक एक ग्रंथ पढ़ेंगे पढ़ाएंगे और उद्देश्य बना रखा सबको योगी बनाना है सबको आज ब्रह्मचारी बना के छोड़ेंगे मतलब हमारी वो जो भावनाएं जो थी बस पूरे के पूरे संसार को यहां लाके खड़ा कर देना है मैं कई बार सुनाया करता हूं कि जब ये स्थिति ऊंची स्थिति हाथ आती है और ऐसा है कि कहाँ आ गया कितना अच्छा ये वातावरण है कितनी स्वतंत्रता आजादी है कोई बंधन नहीं कोई काम करो सता नहीं कोई राग नहीं इतनी अच्छी स्थिति है वैराग्य वाली जो है फिर क्या करें सारे संसार को ऐसा बनाऊंगा मैंने ऐसा तो जा <laughs> संसार के जितना बनाइए तो वो अपनी को विचार डाला सारे संसार को जितने लोग दुखी हो रहे हैं सबको ऐसा बना देंगे ये दुख से बच जाएंगे अब कैसे बचाएंगे साध भाई भाषा आती है थोड़ी सी बारे खड़ी आती है कैसे क्या प्रमाण देंगे हम कैसे उपदेश देंगे हम ये बड़ी समस्या खड़ी होगी अब खड़ी होगी तो सत्यार प्रकाश में लिखा था इस पाठ्यक्रम से इतना अंग पढ़ो उपांग पढ़ो वे वेद पढ़ो और फिर व्यक्ति विद्वान बनता मैंने कहा ये बात है कि यदि इस प्रकार के गुरुकुलों में जाके पढ़ाया जाए तो ये हो सकता है कि संसार को यहां जाके खड़ा परंतु बात तो ये थी कि मैं सोचता था जैसे मैं सोचता सोचता आया वो लोग भी सोचेंगे मैं जैसा सोचता हूं पर और लोगों ने ऐसा सोचा नहीं क्या समझ में आया आचार्य जी ने भी नहीं सोचा इनको सुन सुना कि औरों की तो कथा क्या है ज्ञाने श्री आचार्य जी ने भी सोचा इतना तो सोचा ही नहीं कुछ कुछ भाग सोचा तो जितना चाहिए वो कमी है अब वो जो स्थिति थी तो पता चला कि भाई सारा संसार कहीं आता नहीं आ नहीं रहा है तो चलो हजारों को बनाओ इतने को फिर कहने का कुछ वर्षों में पता चला हजार भी नहीं आ रहे यहां तो फिर कालम सौ को ही बनाओ ऐसे सौ भी नहीं आ रहे फिर पचास को बनाओ ऊंचे स्तर की बात कर रहा हूं मैं ऊंचा स्तर वो पचास भी नहीं आ रहे चार छह को बनाओ वो चार छह भी नहीं आ रहे दो तीन को बनाओ ये दो तीन भी नहीं आ रहे तो फिर भी ये आशा नहीं रखनी चाहिए कि झटिया आ जाएंगे ये कहीं तो आएंगे कम से कम कितना ही तो चलेंगे जितना चलेंगे और हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए करते करते वो आ जाए और वो चले ऐसी भी तो बात है ना प्रयोग करते करते और ये भी किसी न किसी स्तर पर तो पहुंचेंगे ये विवेक जी जाने से यानी पढ़ते पढ़ाते भाई ये भी ऐसे ही तो थे गड़बड़ करते थे तो को कहते ऐसा क्यों करते ऐसा क्यों करते इनको धमकाते थोड़ा और ऐसा नहीं करा फिर कुछ भी अच्छे विद्यार्थी भाई ये औरों से तो अच्छे हैं तो इन्हीं को करो हम तो वैसे करते थे <laughs> इन्हीं को बनाओ इन्हीं को बनाओ जैसे बनेंगे आप में भी ऐसे ही है इन्हीं को ही बनाओ ये औरों से तो अच्छे हैं या नहीं है तो ये कितना प्रयोग करते रहे और कैसे कैसे तो इसलिए इन बातों का बड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको कल्पना करके देखो बुद्धि से देखो कि कितना समय आपको मिलता है कितने साधन आपके पास में है जो आप ये निश्चित मान लीजिए यदि मुझे आपकी बातें यदि समय मिलता है याद रखना बाईस वर्ष के पीछे की बात ले लो और ऐसे ही अध्ययन मतलब तो विद्या की जो उन्नति होनी थी अष्टाध्यायी महाभाष्य फिर दर्शन और वे वे वो कहां तक ले जाता हूं और यदि शारीरिक आप देखते ना जो हम परिश्रम करते थे कितना तगड़ा शरीर होता कितना बलवान होता उसकी अपेक्षा सूखा खाना अष्टाध्यायी रटना वृक्षता से रोग पैदा हो जाते हैं वो आपत्तियां नहीं आती वृक्ष खाना वृक्ष ही पीना खाना नहीं उसका कोई प्रभाव तो इस प्रकार से आप करो तो अभी हमने जो सोचा है विचार किया है आचार्य जी विदेश चले जाएंगे ठीक है अपने आशीष जी हैं सुमेर प्रसाद जी को मैंने कहा कि आप आचार्य जी का वहां काम संभालो ध्यान वो चले जाएंगे तो काम कौन करेगा करेंगे तो उन पर कितना भार आएगा काम बिगड़ जाएंगे विद्यार्थी पर कुप्रभाव भी पड़ सकता है इसलिए आप बहुत समझ लो आचार्य के जो कार्य हैं और हैं अपना धर्म भी है तो सहयोग दो तो वहां रहो और इस काल में सुमेर प्रसाद जी के विषय में मैंने सोचा ये जितने भी बड़े छोटे ब्रह्मचारी हैं ना सबसे पहले रचनानुभाव कुमदी का जो भाग है एक और दो और तीन वो उनको पढ़ाएं उस पर जोर लगाएं भले ही दर्शन का पाठ कम करें उसका अनुवाद बोलना आप बोलते तो संस्कृत बहुत अच्छी बात है और कई बार आप अशुद्ध बोलते ये धर्मवीर जी मेरे साथ बोलेंगे और गौतम जी बोलेंगे और विश्वेश जी बोलेंगे ये अशुद्ध बोलते रहते मेरे पास रहते ना जैसे यहां उस पर ध्यान नहीं दिया जाता अशुद्ध कहां हो गया क्या हो गया कब हो गया क्यों हो गया ये ध्यान नहीं और उसके दिमाग में भी नहीं कि अशुद्ध क्या होता है अशुद्ध क्या होता है तो कैसे शुद्ध बोलेगा ये ये जो त्रुटि दोष ये आपके अंदर है इसको दूर करो संस्कृत भाषा बोलना लिखना शुद्ध बोलना शुद्ध लिखना पढ़ा देना पढ़ना इस कार्य को सुमेरु प्रसाद जी इतने दिनों में करो जितना और कार्य कम हो भले पर इनको ऐसा बना लो आप पढ़ा सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं फिर दर्शनों के पढ़ने में कितनी सुविधा होगी और इतनी भाषा आने के पश्चात कोई अष्टा नहीं पड़ेगा कल्पना की तो उसको कितनी सरलता हो जाएगी तो इस कार्य को करना अब ये साधन जो है किसके रूप में आपको तैयार करने हैं और तुलनात्मक अध्ययन करें आप कैसे कैसी आपत्ति कैसी कैसी स्थिति यूं में ये विद्या प्राप्त की गई है और आपको कैसे सु, ये सुव्यवस्था मिली हुई है और आप उतना लाभ नहीं उठा रहे जैसे उठाना चाहिए उसको ठीक करो अब विराम